आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio four 90.4 M सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जब हम बात करते हैं उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक खुशी मिलती है हमें और साथ ही साथ जीवन जीने की प्रेरणाएँ मिलती हैं तो आज ऐसे ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ श्रीमान संत बाबा अमरिक सिंह जी है और हमारे साथ उनका स्टूडियो में है और आपकी बातें उनसे कुछ ही देर में होगा उनकी आवाज़ से आप रूबरू होंगे तो आप सभी की तरफ से श्रीमान संत बाबा अमरिक सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में ओम शांति ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीमान संत बाबा अमृत सिंह जी और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि संत बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटती है हमारे जीवन में जो हमें इस रास्ते पे आगे ले जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ समय चलते हैं फिर वापस संसारिक जीवन में आ जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग आप जैसे जो इस मार्ग को पकड़ लेते हैं टिके रहते हैं और लोगों को सुख देने का प्रयास करते रहते हैं तो आपके साथ ऐसा कौन सी घटना या कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से आप इस तरफ बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं जी मेरे बचपन से ही भक्ति बंदगी में ख्याल था जी जी और परमात्मा को पाने की इच्छा भी थी हम्म, हम्म। और हमारे जो बड़े महापुरुष हैं पिताजी थे हम्म, वो छोटी उम्र से ही अपने संतों महापुरुषों महात्माओं के साथ उनका संग था तो उन्हीं की प्रेरणा से आज हम भी इस पदवी पे हैं उनका आशीर्वाद है और हमेशा ही संतों महापुरुषों से ही प्रेम रहा है और जीवन में यही सोचा कि जो कुछ मिला तो यहीं से मिला और यहीं पे छोड़ के चला जाना है ना ही कोई कुछ लेके आया और ना ही कुछ लेके कोई जाने वाला है ये तो इंसान का सोच है कि ये बच्चे मेरे हैं ये परिवार मेरा ये धन मेरा ये कोठी मेरी ये बंगले मेरे हैं हम्म, हम्म, हम्म। ये सब कुछ मेरा है पर लेकिन किसी का कुछ भी नहीं है ये तो संसार एक रहन बसेरा है और कब भगवान के घर से पर्चा कट जाएगा कब जाना पड़ेगा ये <laughs> कोई पता नहीं है सही बात है जब भगवान के घर से पर्चा कट जाएगा तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि नहीं कि बच्चे छोटे हैं बड़े हैं दिन है रात है भूखे हैं प्यासे हैं जब इनके बच्चों की शादी हुई या नहीं होगी या कोई करेगा या नहीं करेगा जब मैंने किसी का कर्जा देना है मैंने किसी से कुछ लेना है भी ऐसा जब भगवान के घर से पर्चा कटेगा तो किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी कोई किसी से पूछताछ नहीं की जाएगी जब उनके घर से पर्चा कट जाएगा तो फिर जाना ही पड़ेगा तो जब हमें पता है कि हमने एक दिन जाना है तो फिर हमें संसारिक चक्करों से निकल के सिर्फ पिता परमात्मा परमेश्वर के चरणों से लगना चाहिए जो किसी का मान नहीं दुखाते किसी को दुख नहीं देते किसी को परेशान नहीं करते भगवान तो हर समय चाहते हैं कि जितनी मेरी आत्माएं हैं हम्म। हर रूह खुश रहे इस संसार में जो आया है वो खुश ही रहे कोई संसार में रोता हुआ दुख पाता हुआ ना जाए अगर हम दुख पा रहे हैं तो अपने कर्म अनुसार पा रहे हैं सुख पा रहे हैं तो अपने कर्म अनुसार पा रहे हैं हमारे जो कर्म है ये तीन तरह के बतलाए गए हैं कि तीन तरह के कर्म कैसे हैं कि अगर हमारा अच्छा जीवन है और संतों महापुरुषों से हमारा जीवन जुड़ा है भगवान से परमात्मा से जुड़ा है जैसे हम आज यहाँ पे आए हैं तो देखा कि बहनों का बहुत प्यार मिला है दादी माँ जी का बहुत प्यार देखा तो उसमें फरमान भी है कि मूल से ब्याज प्यारा है <laughs> जैसे दादी माँ है तो इनके लिए आज जो इनके पोते बन गए हैं हम्म, हम्म, हम्म। तो इनको अपने बच्चों से पोते प्यारे हैं अपनों से आज सास संगत प्यारी है हम्म, हम्म। क्योंकि संतों महापुरुषों के पास कोई प्राणी रहता था तो जब वो जवान हुआ तो माता पिता आए कि महाराज जी हमने बच्चों की बेटे की शादी करनी है लेने आए हैं हम्म, तो संतों ने कहा भाई ले जो कोई बात नहीं तो बेटा आना ज़रूर है वो कह रहे महाराज जी ठीक है वो बेटा जब चला गया तो कुछ समय के बाद शादी हुई शादी के बाद जब संतों के पास फिर वापस अपने बच्चे लेके आया दो दस साल या पाँच साल के बाद उसके बाद दो बच्चे या चार बच्चे थे तो संतों ने कहा बेटे भी ये बच्चे कह रहे महाराज ये दोनों बच्चे मेरे हैं संत कह रहे कि आप तो सिर्फ चार ही हो ना दो आप दो आपके बच्चे हैं तो बेटा आज मेरे बच्चे देख कितने हैं हम्म। जैसे दादी माँ के हम्म। दुनिया भर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उनके कोई बच्चे नहीं हैं हम्म। दुनिया भर में ऐसे कोई जगह नहीं कि जान जिस जगह पे उनका कोई आश्रम ये नहीं बनाया तो कह रहा कि बेटे देख आपके पास ये दो बच्चे हैं ना तो देख मेरा परिवार कितना बड़ा है तो इन चीज़ों को ही सोचते हुए मन में ये हमेशा ही आया कि परमात्मा की भक्ति बंदगी करनी अच्छी है और परमात्मा से नाम से जुड़ना अच्छा है ये संसार जो है ये तो कर्म क्षेत्र है जैसा हम कर्म करते हैं जैसा भी बोते हैं सो हम ऐसा काट लेते हैं एक मकड़ी है वो जाल बना लेती है अपने मुख से डोरा निकालती है और जाल को तैयार करती है एक दिन उसी के बीच में उलझ के वो मर जाती है हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है जो संत महापुरुष महात्मा गृह से बाहर हैं वो भी अच्छा है अगर कोई महात्मा है तो चाहे आम संसारिक लोग हैं उन लोगों को मकड़ी की तरह है जैसे मकड़ी जाल में फंस जाती है तो मर जाती है हम भी इसी महान जाल में फंसे हुए हैं बाल बच्चों के मोह ममता में फंस गए परिवार की मोह ममता में फंस गए और संसारिक चीज़ों की मोह ममता में फंस के हम उलझे हुए हैं पर हमें स्टडी करनी चाहिए कि इन चीज़ों से निकल के ऊपर को उठना चाहिए ऊपर उठ के परमात्मा का दर्शन दीदार करना चाहिए परमात्मा के बनाए हुए जीवों से प्यार करना चाहिए कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जिन प्रेम की हो तिन ही पर पायो हम्म, हम्म। अगर हमारा संसारिक जीवों से प्यार है मनुष्यता से प्यार है तब तो हमारा आना भी यहाँ पे सफल है तो अगर हम रात दिन भक्ति करते रहें बंदगी करें नाम जपें भगवान के बनाए इंसानों से प्यार नहीं है उनसे मोह नहीं है तो उनकी इज्जत सत्कार नहीं करते तो फिर हमें परमात्मा की भक्ति बंदगी करने का को कोई फ़ायदा नहीं है हम्म, हम्म। वो फ़ायदा तभी होगा कि जब हम उनके बनाए इंसान के कदर करेंगे सत्कार करेंगे तो बड़े जो महापुरुष थे उनका यही प्रेरणा थी कि परमात्मा को अगर पाना है तो फिर सब कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है अपने मन को ही समझाना अपनी इंद्रियों को अपने आप में बस में करना है तो इस संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से ही आज कुछ कल कुछ तो आज जो हैं बड़े महापुरुषों के आशीर्वाद से ही हम्म, हम्म, आज हम हम्म। इस पदवी पे पहुँचे हैं और मन विश्वास ये है कि जब तक जिंदगी है अगर ये चोला पहना है तो जब तक जिंदगी है तो इस चोले के बीच में ज़िंदगी के आखिरी श्वास निकलेंगे वरना कोई वो नहीं होगा कि तत्पुत्री या कठपुतली का खेल है हम्म, वो हम्म, नहीं हम्म। होगा <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त आपकी वाणी को सुनकर कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे होंगे संसार के जाल से छूट जाए और जो सुकून है जो परमात्मा की जो सानिध्य है उसको प्राप्त करें और हर एक आत्मा चाहती भी है कि वो परमात्मा को पाए या परमात्मा के सानिध्य में रहें लेकिन सबके भाग्य की बात नहीं है और संसार में हर चीज़ जो है समय पर होता है और समय पर वो सारी चीज़ें होनी है और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप संत होने के नाते देश विदेश सब जगह भ्रमण होता है आपका हाँ तो हर जगह जब जाते हैं आपका तो आपके पास लोग भी आते हैं तरह तरह के लोग मिलते हैं तो आपका मनसा कैसा रहता है क्या चीज़ें लोगों को देने की आपकी विचारधारा बनी रहती है वो थोड़ा सा बताएं मन में तो यही है कि अगर किसी के पास मान लो धन दे रहे हैं दौलत दे रहे हैं सोना चांदी हीरे मोती ये चीज़ें दे भी रहे हैं किसी को प्रसन्न या खुश करने के लिए हम्म, हम्म, हम्म। ये सब अविनाश होने वाली चीज़ें हैं और यहीं रह जाने वाली चीज़ें हैं तो गुरु महाराज ने तो यही कहा कि अगर देना तो उन्हें गुरु ज्ञान देना है गुरु ज्ञान से ही वो भवसागर पार होएंगे गुरु ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई हमें से चरा नहीं सकता कोई ले नहीं सकता अगर लेगा वो शिष्य बन के वो सेवा करके ही प्राप्त कर सकता है तो वो डंडे के जोर से दबके से या चार प्राणी को इकट्ठा करके वो संतों से कोई कुछ नहीं ले सकता हम्म, हम्म, हम्म। अगर संतों से कुछ लेना तो प्रेम प्यार के बीच में ही ले सकते हैं तो जहाँ भी हमारा सत्संग है प्रवचन है विचार है कहीं भी जाते हैं तो हमारा सिर्फ गुरु ज्ञान ही बांटना सबसे बड़ा पुण्य गुरु ज्ञान को हम प्रसाद समझते हैं कि गुरु ज्ञान ही प्रसाद है जो सभी प्राणी लेके अपने घर को जाएं अपने परिवार अपने बच्चों को वो दे सकें समझा सकें बतला सकें हम्म। पर जैसे आप कह रहे कि हर प्राणी परमात्मा को नहीं पा सकता हर प्राणी परमात्मा को नहीं मिल सकता कि कर्म अनुसार नसीब अनुसार है ठीक है कर्म बलवान है पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो साधना की ज़रूरत है हम्म, हम्म। गुरु बिन ना गुरु ज्ञान नहीं है तो बिन बागों से दान नहीं है दुनिया में संसार में इतने बड़े दानी बैठे हैं और इतना इतना उनके कुछ लोग ऐसे बैठे हैं दानी जिनके पास कुछ भी नहीं तो दान करते हैं हम्म, हम्म। तो ऐसे ऐसे संसार में बैठे हैं जिनके पास ब्लैक मनी जो आज इसके पीछे संसार में हमारे युद्ध हो रहे हैं कि ब्लैक मनी निकालो करेंसी चेंज करो तो ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी तो इस ब्लैक मनी जैसे लोगों के पास ऐसा ऐसा धन पड़ा इतना धन पड़ा है वो दान नहीं कर सकते पुण्य नहीं कर सकते चिंता में तो गरीब भी है कि सुबह अपनी दिहाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी सुबह कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो चिंता में अमीर भी है अमीर इसलिए चिंता में पड़ा हुआ है कि जो मेरे पास धन है कहीं डाका ना पड़ जाए कोई लूट के ना ले जाए हम्म। कहीं टैक्स ना लग जाए वो भी चिंता में है गरीब चिंता में है कि मैं कब अमीर होऊंगा कब मेरे पास ऐसी कोठी होगी अच्छी गाड़ी होगी बंगले होंगे महल माड़ी मेरे पास होगी अमीर इसलिए चिंता में पड़ा हुआ है कि जो इतना कुछ मैंने बनाया है अगर मेरा काम काज कारोबार फेल हो गया तो मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं पर संत महापुरुष कहते हैं ये तो सभी यहाँ पे रह जाने वाली चीज़ें हैं भी आप लोगों ने इकट्ठा करना तो भगवान का गुरु ज्ञान इकट्ठा करो गुरु ज्ञान से ही आप परमात्मा को पा सकते हो जिसने ये सब कुछ दिया है जब बच्चा माँ के गर्भ जून में आए तो उस में भी पिता परमात्मा परमेश्वर नारायण रूप में उसकी उत्पत्ति करते हैं पालन पोषणा करते हैं जब वो संसार में आता है उसके आने के लिए हर चीज़ का पहले भगवान ने प्रबंध कर रखा है हम्म। तो जिस समय उस संसार को छोड़ के जाता है लक्कड़ कफन अगन तीन चीज़ों का भगवान फिर भी प्रबंध कर देते हैं जैसे कहा कि हे खुदा तेरी रहमत का तलबगार होके आया हूँ मुख ढक कफन में शर्मशार होके आया हूँ गुनाहों का बोझ इतना था पैदल चल ना सका आज चार के कंधों पे सवार होके आया हूँ हम्म। कि अंतिम समय इंसान चार को कंधों पे जाता है तो सभी को ही वो जगह मिलती चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है लेकिन शमशान घाट में से भी कोई जगह मिलती है अपने घर में स्पेशल किसी ने जगह नहीं बना रखी हम्म, हम्म, हम्म। तो जैसे हमें अपने घर के लिए सोचना चाहिए अपने परिवार बच्चों के लिए सोचते हैं और चीज़ों के लिए सोचते हैं तो इसी तरह हम जो शमशान घाट बना उसके लिए सोचना चाहिए कि असली हमारा घर यही है यहीं भी दान पुण्य करके अच्छे अच्छे पौधे लगाने चाहिए अच्छी फुलवारी लगानी चाहिए तो वहाँ पर अच्छे सेड अच्छे बनाना चाहिए कि जहाँ पे हमारा आखिरी और असली ठिकाना है तो हमारा तो यही संदेश होता है सभी को कि अगर परमात्मा को पाना तो भगवान को पाना कोई मुश्किल की बात भी नहीं है कि जैसे दूध है दूध के बीच में माखन और घी घुला पड़ा है तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर इसी दूध में से आप लोग माखन और घी को अलग करना चाहते हो तो फिर साधना की ज़रूरत है हम्म। अब साधना क्या है गुरु महाराज जी कहते हैं जैसे दूध है दूध को गर्म करो उसको जाग लगाओ जो खट्टा होता है वो दूध जम जाएगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं अब जब दूध जम गया है अब मधानी से उस दूध को मिथ लो रिड़क लो उसको जब मधानी से उसको मिथते हैं तो माखन अपने आप ही ऊपर को आ जाएगा जो दूध है वो लस्सी रूप लेकर नीचे रह जाएगा तो हमने उस माखन को निकाल लिया है अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसी माखन को किसी तुष्क पतीले में डाल लो और अग्निवश करो जब अग्निवश करेंगे तो इसका रूप चेंज हो जाएगा तो जब हमने उसको माखन को किसी तुष्क पतीले में डाल करके अग्निवश किया तो उसका रूप चेंज हो गया अब जो टेस्ट दूध में है वो तो माखन में नहीं है हम्म। जो माखन में है वो घी में नहीं है जो घी में है वो दूध में नहीं है आप सारी ज़िंदगी दूध पीते रहें तो माखन और घी का टेस्ट नहीं आएगा तो तब आएगा जब हम साधना करके अलग अलग उनको रख लेंगे हम्म। तो उनका अलग अलग स्वाद हो जाएगा अलग अलग आनंद हो जाएगा तो इसी तरह गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो प्राणी अपनी लंबी आयु पाना चाहता है कि जैसे दूध है दूध की कोई लंबी आयु नहीं है कुछ दिन का मेहमान होता है वो जो मक्खन है वो भी उसकी भी कोई लंबी आयु नहीं वो भी कुछ दिन का मेहमान है हम्म। पर जो घी है निकला तो दूध से उससे माखन बना माखन से घी बना अब माखन से घी बना तो घी की बड़ी लंबी आयु हुआ हम्म। चाहे वो सारी ज़िंदगी घर में पड़ा रहे वो ख़राब नहीं हो सकता वो अमर है हम्म। इसी तरह जो प्राणी नशे पत्ते से मुक्त हो जाता है और मांस आदि से मुक्त हो जाता है और इन चीज़ों से बुरी बुराइयों से निंदा से चुगली से इन चीज़ों से स्टडी करके ऊपर को चला जाता है हम्म, हम्म, तो वो हमेशा हमेशा परमात्मा के चरणों में रहता है तो उन्हें सब अपने ही नज़र आते हैं और उनकी बहुत लंबी आयु होती है और अपनी लंबी आयु भोगते हैं तो इसी तरह ही तिलों में तेल है हम बोरे भर भर के तिलों के घर में रख लें तो अपने आप उन तिलों से तेल नहीं बाहर आ सकता तो जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि इन्हीं तिलों को कोलू में डालो निपीड़ो हम्म। और चाहे ढोलों के ढोल भर लो है उन तिलों में तेल है लेकिन निकालने का तजर्बा है साधना है वो गुरु के बिन नहीं हो सकता तो लकड़ काट है अब जो बना है सब लकड़ है हम्म। इस लकड़ के बीच में अग्नि देवता छुपे हुए हैं <laughs> पर लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि दो लकड़े ले लो लकड़ से लकड़ों को संपर्क करते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो तो आखिर लकड़ में से अग्नि देवता को बाहर आना ही पड़ेगा आप रूप देख लिए चमत्कार हो गया पक्का विश्वास बन गया कि लकड़ के बीच में अग्नि देवता हैं फूलों में सुगंध है वो नज़र नहीं आती महसूस की जा सकती है हम्म, हम्म, हम्म। रेठे में गुण है वो नज़र नहीं आते प्रयोग में ले आकर देख सकते हैं इसी तरह ही पिता परमात्मा परमेश्वर है कि जैसे मैं दूध में से माखन की को निकाल लेते हैं तिलों में से तेल को लकड़ काठ में से अग्नि देवता को फूलों में से सुगंध को रेठे में से गुण को इसी तरह हम भक्ति करके बंदगी करके नाम जप के गुरु वाले बन के सबसे पहले गुरु वाला बनना पड़ेगा हम्म, हम्म, हम्म। तो बिन गुरु से चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी बैठ जाएंगे ना तो तभी हम मनमुख मनुष्य निगुरे कहलाएंगे हम गुरु वाले नहीं कहला सकते लास्ट में क्या है वे इसी तरह जब हम परमात्मा को पाना चाहें तो जैसे में दूध में से माखन घी में से तेलों में से तेल लकड़ में से अग्नि देवता को पा लेते हैं ऐसे तरह ही हम गुरु वाले बन के माता पिता की सेवा करके साथ संगत की सेवा करके भक्ति बंदगी पाठ पूजा वेद ग्रंथ प्राण पढ़ के और इन पे अमल करके इन पे ध्यान करके हम पिता परमात्मा परमेश्वर को इसी जन्म में पा सकते हैं फिर तो पता नहीं हमें जन्म मिलेगा या हम्म। नहीं मिलेगा आज मिला है तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो है सार रूप में बाबा अमरिक सिंह जी ने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में तप करके अपने रूप को बदल सकते हैं अपना अनुभव को शाश्वत कर सकते हैं और परमात्मा के सानिध्य में रह सकते हैं वो सारी बातें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया है और और जैसे जैसे मैं सुन रहा था मुझे यही चीज़ें याद आ रही थी कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में लोग उसके साथ होते हैं और जिस जिस पे जग हंसा है उस उसने ही इतिहास रचा है तो हम सभी को अगर अपने से अपने जीवन से कुछ अगर जैसे मक्खन तक पहुंचना है या फिर घी तक पहुंचना है तो जीवन में तप और तपस्या ज़रूर करना है और इसके लिए बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि आपको तप जब सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है और कुछ चीज़ों का जो है त्याग भी करना है वरना वो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे चाहे जीवन भर हम तपस्या के या किसी गुरु के सानिध्य में रहें लेकिन अगर कुछ चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं तो वो सफल साधना नहीं हो सकता जैसे उन्होंने बताया कि मांस मदिरा ये सब जो भी है पान बीड़ी सिगरेट इन सभी चीज़ों का काम क्रोध लोभ मोह का अगर इनका त्याग नहीं होगा तो आप मक्खन कभी नहीं बन पाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि तपस्या तपस्या और त्याग दोनों साथ साथ चलते हैं और उन दोनों के साथ साथ हम चलते हमारा जीवन को सुगम बना सकते हैं परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं उस सानिध्य में रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें जो है बाबा अमरिक सिंह जी ने हमें बताया है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसे सत्संग में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब तब करते हैं तो संगीत भजन कीर्तन भी करते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत भजन आप सुनाएं तुझ में ओम मुझ में ओम तुझ में ओम मुझ में ओम सभी में ओम सुमाया कर ले सबसे प्यार जगत में अपना कौन पराया हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय एक पिता के बच्चे हैं सब एक हमारी माता एक हमारी माता एक हमारी माता दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता एक हमारा दाता एक हमारा दाता फिर ना जाने किस मुँह रखने लड़ना हमें सिखाया कर ले सबसे प्यार जगत में अपना कौन पराया कर ले सबसे प्यार जगत में अपना कौन पराया हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो दीवारों को तोड़ो दीवारों को तोड़ो बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो बुरी आदतें छोड़ो बुरी आदतें छोड़ो जागो और जगाओ सभी को जागो और जगाओ सभी को समय ही ऐसा आया कर ले सबसे प्यार जगत में अपना कौन पराया हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय शिव की नाम की महिमा बंदे तन मन से तू गाले तन मन से तू गाले तन मन से तू गाले सब पे कृपा करते भोले जग के जो रखवाले जग के जो रखवाले जग के जो रखवाले जागो और जगाओ सभी को समय ही ऐसा आया कर ले सबसे प्यार जगत में अपना कौन पुराया हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय हरिओम नमो शिवाय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया है और मुझे लगता है कि आपका भजन सुनते सुनते जैसे मैं खो गया था वैसे ही हमारे सभी सुनने वाले भी इस भजन के साथ ध्यान अवस्था में खो गए होंगे एक बहुत ही सुकून भरा अनुभव हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं हमारे साथ श्रीमान संत बाबा अमरिक सिंह जी हैं जो आपको अभी भजन सुनाया और कुछ अनुभव के बातें आपके साथ शेयर किया इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में और जाते जाते मैं कहूँगा आप हमारे सभी लिसनर्स को एक मैसेज ज़रूर दे कि वो अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करे उस बात से एक छोटा सा मैसेज संदेश जरूर दें बस यही हमारा तो संदेश है जी कि ज़िंदगी में अच्छा बनना है तो गुरु चरने से लगें तो गुरु की सेवा से ही हम हर पदवी को हर चीज़ को पा सकते हैं और इस जगह पे आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं आगे तो स्वर्ग किसी ने देखा या नहीं देखा यही स्वर्ग है तो इससे ऊपर मैं स्वर्ग नहीं मान सकता कि जितने भी यहाँ बहनें और भाई रह रहे हैं सेवा कर रहे हैं दादी माँ की सेवा कर रहे हैं और हम सभी जगह पे घूम के आए हैं देख के आए हैं कि हर भाई हर बहन अपने अपनी ड्यूटी पे ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे दादी माँ सभी के साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ घूम रहे हैं तो मेरा सभी को यही संदेश है कि इससे भी और अच्छा बने और दादी माँ की सेवा ये अपने घर की सेवा संभालें कि जब सभी अपने घर समझ के सेवा करेंगे तो इसको और चार चांद लगेंगे यही मेरी तो सभी को बेनती भी है प्रेरणा भी अरदास भी है हम्म, हम्म। और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप ले जा रहे होंगे ऐसी आशा करता हूँ तो क्या चीज़ आप लेके जा रहे हैं मैं यहाँ पे दे के तो कुछ नहीं जा रहा जी लेकिन लेके बहुत कुछ जा रहा हूँ जी जी लेके क्या जा रहा हूँ कि जो मैंने देखा अपनी आंखों से देखा कह रहे कि जब तक ना देखूँ अपनी नैनी तब तक न मानूँ गुरु की कहनी तो जो मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले देखा कि बहनों और भाइयों का प्यार फिर देखा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाले जीवों के लिए यहाँ पे बहुत सुधार बहुत कुछ है कि जो हम ज़िंदगी में सोच नहीं सकते घर बैठे अगर हम कहें तो भी यहाँ का हम हाल जान लेंगे घर बैठे तो हम यहाँ का हाल नहीं जान सकते यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट है आगे देखेगा तो वही फिर अनुभव करेगा वो दूसरों को बतलाएगा हम्म। और मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ गुरु ज्ञान भी लेके जा रहा हूँ और जो जो को दिखाया गया यहाँ पे देखा है वो सब ज़िंदगी में माइंड में रहेगा कि जैसे हम किसी को गुलाब जामुन खिला दें हम्म, हम्म, तो 20 साल के बाद भी अगर उसको दें ना भैया गुलाब जामुन खा के देगा तो उसको खाने से पहले ही टेस्ट का पता चल जाएगा गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है <laughs> जी जी। तो वैसे जब तक जीवन है तब तक यहाँ का जो आनंद है वो मन में रहेगा माइंड में रहेगा यहाँ से लेके जा रहे हैं यहाँ पर दे के कुछ नहीं जा रहे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और यहाँ से लेकर आप बहुत कुछ जा रहे हैं कई बार ऐसी मंशा बनती है कि हम सभी लोग सुनते रहते हैं लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं जब तक आँखों से नहीं देख पाया तब तक इन सभी चीज़ों को जान भी नहीं पाता तो जब यहाँ पर आ गए एक दो दिन से वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ से वो चीज़ें जो उनको दिखाई दे रहा है और वो ज्ञान की नेत्र से देख रहे हैं स्थूल नेत्रों से नहीं देख रहे हैं क्योंकि जो कुछ यहाँ अगर स्थूल नेत्र से आप देखते हैं अपनी आँखों से जो कुछ आप देखते हो वही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं व्यक्ति है वस्तु है वैभव है लेकिन जब ज्ञान के नेत्रों से हम देखना शुरू करेंगे अंतर आत्मा के नेत्रों से हम देखना शुरू करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई देता है वो स्नेह वो प्यार वो ममता वो परमात्मा का ज्ञान वो परमात्मा का आशीष वो सब कुछ परमात्मा जिस तरह से इस धरती पर एक स्वर्ग की कल्पना हम हमेशा करते रहते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने व्यवस्थित यहाँ पर एक डेमो के रूप में रखा है एक मॉडल के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है और ये ये वही लोग जान पाते हैं जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ हो आत्मा का अनुभूति जिन्होंने किया है वो इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं और जिनके आत्मा के अंदर का नेत्र खुला हुआ है या वो जान पा रहे हैं तो वो अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जैसे गुरु जी अब कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बहुत कुछ ले जा रहा हूँ और वो मेरे पूरे जीवन भर साथ रहेगा तो यही चीज़ें हैं कि जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तो इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे और ले नहीं जाएंगे तो इसलिए उन उनका कहना यही है कि आप यहाँ आए और इन चीज़ों को देखें और अनुभव करें जिस तरह से वो लेकर जा रहे हैं आप भी यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाइए सदा आनंदमय मगन अवस्था में रहें और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मुझे और श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे इसी वादे के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो हाँ चल के तुझे मैं के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए सपनों में पली हंसती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहां खो जाए शिकवा न कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूं चलते चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले